याद कर जबकि तेरी बहन चल रही थी और कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं इसे बता दूं जो इसकी निगहबानी करे इस तदबीर से हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुंचाया कि उसकी आंखें ठंडी रहें और वो गमगीन न हो और तूने एक शख्स को मार डाला था उस पर भी हमने तुझे गम से बचा लिया गर्ज हमने तुझे अच्छी तरह आजमा लिया फिर तू कई साल तक मदेन के लोगों में ठहरा रहा फिर तकदीर लाही के मुताबिक ए मूसा तू आया